अथ के ते क्लेशा कियंतो वा वेति वा इति अब जिन क्लेशों को पीछे दग्ध बीज और अप्रसव धर्मी करने की बात आई क्रिया योग के माध्यम से क्रिया योग के द्वारा उसके पीछे अब उसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि ते के के क्लेशा वे क्लेश कौन हैं किसको क्लेश कह रहे हैं जिसको यहाँ दग्धबीज करना होता है वो कौन है क्या चीज़ है वो कि अंतो वेती और संख्या में क्या कितनी संख्या है उसकी तो अब बता रहे हाँ गिनती है उनकी अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेशा पांच वे क्लेश होते हैं जिनके नाम हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश ये पांच क्लेश होते हैं संख्या निमित्त नियत है और नाम भी है इनके अपने अपने यही क्लेश हैं क्लेशाइति विद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये पांच यही क्लेश हैं और क्लेश का मतलब पंच विपर्य इत्यर्थ पांच जो मिथ्या ज्ञान है वही इसका अर्थ अभिप्राय लेना चाहिए पांच क्लेश अर्थात पांच विपर्य पांच मिथ्या ज्ञान हम्म। ते सेंदमाना वो सेंदमाना मतलब क्या होता है टपकता है जिसको कहते हैं ना किसी चीज़ से निकलती है सेंदमाना रिश्ता हुआ रिश्ता हुआ जिसे कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा करके निकलता रहता है चूता हुआ हम्म। हाँ संदमाना संदते मतलब रिश्ना होता है वही पांच जो होते हैं रिश्ते हुए नहीं थोड़े थोड़े निकलते हुए प्रकट होते हुए गुणाधिकारम यंती गुण के अधिकार को गुण के प्रभाव को गुण के कार्यों को दृढ़ करते हैं मजबूत बलवान करते हैं और परिणामम अवस्थापयंती परिणाम को स्थापित करते हैं अब राग द्वेष हो गया तो उसके बाद जिसमें राग हो गया तो उसको साथ रखना पड़ेगा उसके हटने पर दुखी होना पड़ेगा उसके लिए छल कपट सब कुछ करना पड़ेगा तो ये परिणाम है इसके क्लेश आदि हो गए तो उसके निमित्त कर्म होंगे गुण अधिकार में राग द्वेश आदि प्रवृत्ति उनका अधिकार है प्रवृत्ति लोग तो उसको दृढ़ करते हैं उसके परिणामों को अवस्थित करते हैं कार्य कारण स्रोत उन्नमयंती और कार्य कारण के स्रोतों को ऊपर उठाते हैं बढ़ाते हैं राग होगा उससे क्या होगा फिर सुख होगा यानी वो सड़ चक्र बताते हैं ना हम्म, एक हो गया राग फिर हुआ सुख फिर हुआ धर्म धर्म होगा फिर सुख होगा फिर राग होगा फिर उससे धर्म करेगा फिर सुख होगा फिर राग होगा हम्म। फिर अधर्म करेगा फिर उससे पा दुख होगा फिर द्वेष होगा फिर अधर्म होगा ऐसे चलते रहेंगे एक दूसरे को बढ़ाते रहेंगे फिर ये तो ये कार्य कारण स्रोत है क्लेश बढ़ेंगे क्लेशों से फिर वृत्तियाँ बढ़ेंगी वृत्तियों से फिर क्लेश बढ़ेंगे ऐसे ये एक दूसरे को बढ़ाते रहेंगे कार्यक्रम स्रोत हाँ वे बढ़ते निकलते हुए क्लेश प्रकट होते हुए चित्त में से निकलते हुए स, क्या उसको वही था सरकते हुए या रिश्ते हुए रिसने वाले जो क्लेश हैं वो गुण के अधिकारों को दृढ़ करते हैं मजबूत करते हैं थोड़े थोड़े निकलना होता है ना घड़ाई से जैसे पानी के होते हैं गिरता रहता है चूता रहता है उसका नाम रिसना है टंकी में पानी नहीं निकलना चाहिए पर थोड़ा थोड़ा निकलता है वो उसको रिसना कहते हैं क्लेश इन्हें चित्त में रखे हुए हैं वो थोड़े थोड़े काम करते रहेंगे हाँ यानी रूप आ गया तो देखने की तीव्र इच्छा होने लग गई ये वो रिस गया और आग वाला क्लेश कोई विरोधी आ गया तो उबलने लग गए अंदर वैसे चुपचाप शांत था वो वो रिस गया वो गढ़े में रखा रहता है चित्रूपी और जैसे उसके आलम्बन आते हैं वो निकल आता है उससे पूरा तो निकलने नहीं देते हैं एक बार में इसलिए थोड़ा सा निकलता है मतलब हाँ नहीं पानी या तेल जैसे गिर गया ना इसके ऊपर तो क्या होगा वो इसको स्यंदन कहते हैं फैल जाना प्रसरित वो हो जाना फैल प्रसरित तो होना या थोड़ा सा उससे निकल जाना फैलना ही होगा एक तरह से सिंधमाना बढ़ते हुए उन्मयंती परा अनुग्रह तंत्री भूय कर्म विपाकम च अभी निर्हरती परस्पर अनुग्रह तंत्री भूय और आपस में राग द्वेष से मिल जाएंगे रोहित द्वेष राग से मिल जाएगा यानी एक राग है तो उसके विरोधियों से द्वेष हो जाएगा हम्म। फिर कोई विरोधी है तो उसके विरोधियों से फिर राग हो जाएगा हम्म। ऐसे करके एक दूसरे को आपस में फिर ये तंत्री भूई हम्म, धागे के समान उलझते जाते हैं धागा इतना सा ले लो अब क्या होगा वो थोड़ी देर इधर उधर करो सारे उलझ जाएंगे यज्जू पर भी देखभाल बार ऐसे करके रख दो निकाल के फिर देखो वो उलझ जाएंगे ऐसे ही हम्म। तो ऐसे ये क्लेश क्या होते हैं एक दूसरे से उलझते जाते हैं उलझते जाते हैं बढ़ते जाते हैं तो परस्पर अनुग्रह तंत्री हुई इस प्रकार से परस्पर में एक दूसरे के अनुग्रह उपकार के रूप में तंत्री भूई मिल करके कर्म विपाकम कर्मों के फल को अभिनिर्हरंती उसको जमा करा देते हैं <coughs> उत्पन्न करते हैं उत्पन्न करते भी हो जाएंगे संग्रह करा देते हो जाते हैं और हरण करना ले जाते हैं हम्म, हम्म, हम्म। यंती यानी उस उत्पन्न कर देते हैं उसको तो ये पांच क्लेशों के नाम बता दिए थोड़े से उसके गुण बता दिए अब इसमें बता रहे हैं कि मूल कौन होता है इनका किस कारण से ये बढ़ते हैं कैसे कैसे बढ़ने की इनकी क्या होती है पद्धति या विधि या उनका स्वरूप क्या होता है अविद्या क्षेत्रम उत्तरे शाम प्रसुप्त तनु नाम उत्तरे शाम नाम तनूनाम नाम क्लेशा नाम क्षेत्रम अविद्या शाम यानी अविद्या से आगे सूत्र में पड़े हुए ना अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश ये चार हैं अब विद्या को मिला देंगे तो पाँच हो जाएंगे तो अब कह रहे हैं कि उत्तरे हम्म, शाम यानी अविद्या तह उत्तरेशा अविद्या से आगे जो चार हैं हम्म, ये चार कैसे कैसे वाले प्रसुप्त रहने वाले तनु रहने वाले विच्छिन्न रहने वाले और उदार रहने वाले चारों के चारों में ये चारों लगेंगे हम्म। अस्मिता जो प्रसुप्त है तनु है विच्छिन्न है और उदार है राग जो प्रसुप्त है तनु है विचिन्न है और उदार है द्वेष जो प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार है अभिनिवेश प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और ये उदार हैं हम्म। तो ये प्रसुप्त आदि जो अस्मिता आदि हम्म, प्रसुप्त आदि रूप में जो चार हैं हम्म, इनका क्या है अविद्या क्षेत्रम अविद्या इनका खेत है यानी मूल है अविद्या में ये उत्पन्न होते हैं जैसे खेत में घास उत्पन्न होती है ऐसे ये चारों उत्तर के जो क्लेश हैं ये सब के सब कहाँ से उत्पन्न होते हैं अपने मूल से अविद्या से तो अविद्या के कारण ही ये भी क्लेश बनते हैं हाँ प्रसुन्न प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार स्वरूप वाले अस्मिता आदि चार क्लेशों का मूल हम्म, अविद्या अविद्या है क्षेत्रम यानी मूल उगने का स्थान <clears throat> अविद्या है अविद्या क्षेत्र अविद्या क्षेत्र है इन चारों का जो जो चार चार स्वरूप वाले होते हैं सोलों का हो जाएगा क्षेत्रम अर्थात प्रसव भूमि उत्पन्न होने का कारण उत्पन्न होने की भूमि हम्म। उत्तरेशम अर्थात अस्मिता आदि नाम चतुर्विध कल्पिता नाम अच्छा इसमें तो चतुर्विध कल्पिता नाम है तो अस्मिता आदि नाम अस्मिता आदि के जो कि चार भागों में विभक्त होने वाले हैं हम्म। और वो हैं प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार हम्म। तो प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार इन चार रूपों में विभक्त होने वाले अस्मिता आदि के हम्म। प्रसव भूमि अविद्या है अब इसमें से कह रहे हैं कि प्रसुप्त क्या है ये प्रसुप्ति प्रसुप्त शब्द पुल्लिंग में है सूत्र में पढ़ा हुआ उसी को भाव रूप में यहाँ प्रसुप्ति शब्द से बोल रहे हैं स्त्रीलिंग में बना दिया हम्म। यहाँ भाव अर्थ है उसका प्रसुप्त का भाव प्रसुप्ति तत्र का प्रसुप्ति उसमें प्रसुप्ति क्या है हम्म। प्रसुप्ति अवस्था क्या है उसको बता रहे हैं लक्षण बता रहे हैं कि चेतसी शक्ति मात्र प्रतिष्ठा नाम बीज भावोपगम चेतसी यानी चित्त में शक्ति मात्र प्रतिष्ठान हम्म, शक्ति स्वरूप में अवस्थित का बीज भाव में उपगम हम्म, यानी बीज रूप में कारण रूप में उत्पन्न हो जाना हम्म, उत्पन्न सक्रिय हो जाना चित्त में जो किसी और स्वरूप में नहीं है बस उसका कुछ नहीं पता लगेगा इतना लंबा है चौड़ा है लाल है पीला है कैसा है ऐसा कोई भी लक्षण नहीं है वहाँ हम्म, बस क्या है है एक शक्ति है बस तो शक्ति मात्र प्रतिष्ठ मात्र शक्ति रूप में यानी इससे ये हो जाता है बस तो ऐसी शक्ति मात्र में जो अवस्थित है चित्त में उसका फिर बीज रूप में उत्पन्न हो जाना अपने किसी लक्षण में आ जाना कुछ क्रिया आरंभ कर देना तो ये जो है प्रसुप्ति कहते हैं मिथ्या ज्ञान जो भी है रूप के रस के खाने के पीने के ये चित्त में कैसे बैठे रहते हैं शक्ति मात्र में रहते हैं इनका अपना अलग से कोई नहीं होता है जैसे सीडी में है वो चीज़ है रखी हुई है वो कैसे है कुछ भी नहीं दिखता ऊपर से क्या है नहीं है पर है वहाँ तो ऐसी चित्त में मिथ्या ज्ञान यानी अविद्या इस रूप में शक्ति रूप में रहती है लेकिन वो उठती है तो शक्ति मात्र में निहित का उठ जाना ये प्रसुप्त अवस्था है लेकिन जो नहीं उठेगा शक्ति मात्र है पर उठना भी नहीं होगा तो वो दग्ध बीज में चला जाएगा लेकिन जो उठता है वो अभी प्रसुप्ति में आएगा तो इसको प्रसुप्ति कहते हैं जैसे कि अस्मिता हो जाएगा प्रसुप्ति का इसका रूप है हम्म। किसी ने किसी को कहा ये है तो उसने ध्यान नहीं दिया हम्म। फिर उसने कहा यही तो है वो फिर उसको देखने लग गया वो हाँ यही था तो अब वो चुप नहीं रहेगा कौन क्या महायुद्ध किया था क्या किया था नहीं पहले बार में उसने जो ऐसी कहा यही तो ध्यान नहीं दिया उसने तो इसमें जो अहम भाव उसका है सोया हुआ है थोड़ा सा उसको और जब किया अब थोड़ा सा ध्यान दिया उसने अब वो जाग गया फिर दोबारा तिवारा जब बोला तो थोड़ा सा उसने और खड़ा किया हम्म। फिर उसके बाद अब एक गाली दे दी उसको ये बड़ा दुष्ट है अच्छा फिर भी कुछ किया नहीं ज़्यादा उसने सहन कर लिया फिर कहा ये बहुत ही दुष्ट है ये तो, अच्छा अब दिखाता हूँ तो ऐसे ही अब वो उदार हो गया एक जड़ जड़ दिया जाकर उसको तो ऐसे करके मतलब ये इस तरह से स्थितियाँ इसकी उठती जाती है प्रसुप्त है हाँ बीज भाव में वही हुआ कि पहले तो सुना ही नहीं उसने अहंकार तो था उसमें अपना <clears throat> लेकिन वो पहले सुनता नहीं है बहुत जो दुष्ट होता है ना वो एक बार में कुछ नहीं करता है चुपचाप देखता रहता है नहीं जी को मारना होता है ना जिसको बिल्कुल नहीं पता लगने देता है लेकिन वो भीतर भीतर पूरा बनाता रहता है कैसे उसको करेंगे और भूत हाँ उपगमन उठना आ जाना ऐसे करके यानी प्रसुप्ति कहलाती है जो कुछ नहीं पता चलता है जिस समय लेकिन वो उठ जाता है जा करके बीज भाव उपगम फिर से उसको खोल रहे हैं कि तस्य प्रबोध आलम्बने सम्मुखी भाव प्रसंख्यानवतो दग्ध क्लेश बीज से सम्मुखी भूते अपनी आलम्बने न अशो पुनरअस्ति दग्ध बीज से कुत प्ररोह इति हम्म। प्रसुप्त स्थिति जो होती है वो क्या होती है बीज रूप में पड़ी रहती है हम्म। और उसका जो प्रबोध है उपगम यानी प्रबोध अर्थात आलम्बने सम्मुखी भाव आलम्बन आने पर वो अब उसके साथ खड़ा हो जाता है हम्म। उसका प्रबोध कहलाता है यानी आलम्बन आने पर लगने लगना हाँ ये वही है ऐसी जो अनुभूति हो जाती है ये उसका प्रबोध है प्रसंख्यान बतु कह रहे हैं ये तो उसका होता है जिसका अं, अभी क्लेश प्रसुप्त अवस्था में है हम्म। क्योंकि जिसके दग्ध बीज हो जाएंगे उसकी क्या होती है प्रसंख्यान बतु दग्ध क्लेश बीज से सम्मुखी भूते भी आलम्बन है जो प्रसंख्यान से यानी पर वैराग्य से दग्ध बीज दग्ध बीज कर दिया है क्लेशों को जिसने उसके आलम्बन के सम्मुखीभूत होने पर भी सामने आ जाने पर भी हम्म, ना असो पुनरअस्थि वो नहीं होता है यानी उसको फिर कुछ नहीं लगता है मिठाई आ गई सामने ताली में हम्म, बढ़ते बढ़ते देखना गेवर में क्या होता है नहीं होता है अभी आएगा परीक्षण कर सकते हैं हम्म। बांटने वाला आपको छोड़ करके निकल जाएगा किसी को देखना करके नहीं करना है तो उधर ध्यान जाता है कि नहीं जाता है कि मैं छूट गया भूल गया शायद इसने हम्म। दोबारा आएगा चलो दे देगा हम्म। तो ऐसे मतलब उसके बारे में विचार उठ जाना हम्म। तो और एक हुआ कि गया याद ही नहीं था बांट रहा था क्या कुछ बांट के चला भी गया और अपने को नहीं आया ध्यान क्या बटा नहीं बटा कोई नहीं खा के आ गया इसको कहेंगे दग्धबीज स्थिति हम्म, आलम्बन के सामने आने पर भी उसके लिए सक्रियता नहीं होना कोई अपेक्षा नहीं जागना हम्म, वो कह रहे हैं कि प्रसंख्यान वाले जो होते हैं पर वैराग्य वाले विवेख्याति वाले उसके <clears throat> द्वारा जो दग्ध बीज कर देता है क्लेश को सम्मुखी भूते अपने आलम्बन है उसके आलम्बन सम्मुख आने पर वो नहीं होता है क्योंकि दग्ध बीज से कुत प्ररोह जो दग्ध बीज हो हो गया कहाँ से उसका प्ररोह उत्पन्न होना होगा जो सामने आने पर भी रूप रस आदि के होने पर भी पानी नहीं निकलेगा उसका कोई वो प्रवृत्ति नहीं होगी भीतर धक्का नहीं लगेगा अतः इसलिए क्षीण क्लेश कुशलस चतुर चरम देह इति उच्चते इसलिए यहाँ छीन क्लेश यानी नष्ट क्लेश वाला दग्धबीज क्लेश वाला छीन शब्द यहाँ है कहीं पर छीन शब्द कमजोर अर्थ में होगा यहाँ पर पूरे नाश अर्थ में है अतः जो छीन क्लेश होता है जिसके क्लेश नष्ट हो गए हैं वो कुशल और चरम देह कहा जाता है हम्म, अंतिम देह वाला हम्म, उसी का नाम कुशल है उसी का नाम चरम देह है और भी कोई नाम होगा इसका जीवन मुक्त है हम्म, सारी सारी वही उसकी की संख्या है संज्ञाएँ हैं ये तो चरम देह इति उच्यते तत्रैव सा दग्ध बीज भावा पंचमी क्लेशा अवस्था न अन्यत्र इति तो तत्रैव उसमें ही ये जो पंचमी क्लेशों की पांचवी अवस्था है दग्ध बीज भाव वाली होती है अन्यत्र चार में नहीं होती है जिसके चित्त में ये दग्ध बीज भाव हो गया उसकी हम्म, पांच अवस्था हो जाएगी इसकी क्लेशों की चार अवस्था तो ये हो गई प्रसुप्तनु विचिन्न उदार ये चार अवस्था रहेगी और एक पांचवी अवस्था दग्ध बीज की अवस्था तो दग्ध बीज तो वहाँ होगी जहाँ विद्या नहीं रहेगी नष्ट हो गई है जिसमें है अविद्या उसमें ये चार अवस्थाएँ रहेगी सता क्लेशानां तदा बीज सामर्थ्यम इति विषयस्य सम्मुखी भावे अभी सती न भवति येषां प्रबोधः सताम क्लेशानाम सताम यानी विद्यमानानाम जो क्लेश विद्यमान हैं तदा बीज सामर्थ्यम दग्धम यानी जो दग्ध बीज हो जाता है प्रसंख्यान समाधि से अपर वैराग्य और असंप्रजात समाधि में पर वैराग्य के द्वारा जो क्लेश दग्ध बीज हो जाते हैं उनके लिए कह रहे हैं इति दग्धम इति उसका बीज सामर्थ्य उत्पन्न उत्पन्न करने का वृत्तियों को उत्पन्न करने की सामर्थ्य जो दग्धम इति जल गया नष्ट हो गया इति विषय से सम्मुखी भावे अपि सति विषय के सामने आने पर भी हम्म, न भवति ऐसा प्रबोध इनका फिर से उगना उठना नहीं होता है हम्म, इति उक्ता प्रसुप्ति ये प्रसुप्ति कह दी गई और दग्ध नाम अप्ररोहश्च और दग्ध बीजों का प्ररोह उत्पन्न न होना भी कह दिया गया इसी प्रसुप्ति के लक्षण से ही हम्म? तरोह उत्पन्न होना भी अंकुर जैसे निकलने उसको प्ररोह कहते हैं प्रसुप्त में ये कहा कि जैसे आलंबन आएगा ना वो उठ जाएगा फिर प्रबोध हो जाएगा हाँ वैसे बिना आलंबन के नहीं उठता है वो तो ये प्रसुप्त स्थिति है पर आलम्बन आने पर वो उठ जाएगा हाँ ये अभी उसी की चल रही पंचमी क्लेशावस्था की ये पंचमी क्लेश अवस्था वाली प्रसुप्ति हो गई मतलब एकदम सो गई हाँ पूरी हो गई ये प्रसुप्ति को भी कह दी दो ये इसके लिए कह रहा है वर्णन के लिए यहाँ तक प्रसुप्ति और दग्ध बीज अवस्था दोनों का वर्णन हो गया तो हाँ यहाँ तक यहाँ तक ये वाक्य ले लेंगे इसके साथ तत्रेव सा दग्धबीज भावा पंचमी क्लेशा अवस्था न नेत्रीति इसी के अं, प्रसंग में अभी कह रहे हैं सताम क्लेशानाम तथा बीज सामर्थ्य दग्धम इति विद्यमान हुए क्लेशों का उस समय बीज सामर्थ्य उगने की जो सामर्थ्य वो अं, जल जाती है अं, इति यह विषय के सम्मुखी सम्मुख होने पर भी नहीं होता है यानी न भवती सम प्रबोधा इनका उगना नहीं होता है इति यहाँ तक पूरा हो गया वाक्य अब इसके बाद उक्ता ये कह दिया गया प्रसुप्ति दग्ध बीजा नाम अप्ररोहस्य अब यहाँ जो पीछे प्रसुप्ति का वर्णन आ गया था ना ऊपर तस् प्रबोधा आलम्बने तत्र का प्रसुप्ति इसके जो लक्षण बता दिए फिर उसके बाद आगे दग्ध बीज के दो वर्णन हो गया ना अब इन दोनों का उपसंहार कर रहे हैं इसमें हाँ तो इस प्रकार अब ये दोनों प्रसुप्ति और दग्ध बीज भावों का न उगना ये कह दिए दोनों चीज़ें कह दिए हाँ ये पंक्ति पीछे दोनों के लिए है हम्म। तनुत्वम उच्चते अब तनुत्व को कहते हैं वर्णन तो चार का ही करना था ना इनको सूत्र में चार ही है तो उसके साथ एक जोड़ दिया इसलिए कहा कि चलो दोनों का हो गया वर्णन ये दो कह दिए गए चार के साथ ही पाँचवा भी हम्म। अब तीसरे को कह रहे हैं कि तनुत्वम उच्चते अब तनुत्व को कहते हैं कि तनुत्व क्या होता है प्रतिपक्ष भावना फता क्लेशा तनमो भवंती प्रतिपक्ष भावना से उपहत मारा हुआ चोट खाया हुआ क्लेश तनु होते हैं एक बार कहा खीर नहीं खानी है फिर खीर आ गई तो फिर कहा आज तो चलेगा आज खा लेते हैं कोई बात नहीं खा लिया फिर इसके बाद फिर अगली बार हुआ फिर कहा इस बार खीर नहीं खानी है हम्म, तो इस बार बटने के बाद कहा चलो आज तो हम्म, कोई बात नहीं है खा लेते हैं पहले नहीं हुआ उसको कि नहीं मिलेगा तो क्या होगा आज हुआ कि नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं कब मिलता है तो कोई बात नहीं लेकिन छोड़ना नहीं है बस अभी जितना मिलता है ठीक है पहले दिन हुआ कि कम कैसे हो गया पूरा लेना है जितना था उतना ही होना चाहिए था अगले बार में कम मिलने पर भी है लेकिन बिल्कुल नहीं मिले ये नहीं है तो अब ये थोड़ा सा क्या हो गया उसमें वो तनु हो गया एक बार नहीं जिसके बारे में करेंगे कम से कम ये तो याद आ जाएगा ना कि हमने ऐसी प्रतिज्ञा की है नहीं खाना था मुझे तो अब कुछ तो गलानी होगी खाने लगेंगे तो नहीं खाने को बोला तो था पर चलो क्या करें तो इतना तो मान ही लिया ना उसने कि गलत कर रहा हूँ तो इसको कहते हैं प्रतिपक्ष भावना तो ऐसे मतलब बार बार होते रहेगा बार बार होते रहेगा बढ़ते रहेगा तो एक दिन जा करके लगेगा जाने दो ना क्या करना फिर भी कोई दे रहा है तो चलेगा अपनी ओर से ख़त्म पहले अपने ओर से ही रहेगा हम्म। अब ये बहाना ढूंढेगा कि कोई आके बोल दे खा लो ना जी बढ़िया चीज़ है हम तो खरीद के तो नहीं खाते हैं इनको ये देता है तो मना भी नहीं कर सकते हम्म। तो ये सब इसमें आ जाएगा तनु में आते हैं ये बाधित नहीं होता है अपनी ओर से पर जैसे ही आलम्बन उपस्थित हो गया अब उसको मना करने के बाद भी फिर ले लेता है पर उतना बलवान नहीं होता है ये रहा नहीं जाएगा इसके अब उसमें नहीं दिया किसी ने तो कहा ठीक किया अच्छा हुआ मैं चाह तो रहा था लेकिन मना नहीं कर सकता था अब उसने कर दिया अच्छा हुआ अब प्रसन्नता हो जाएगी तो ये तनु स्थिति होती है पहले मना कर दिया तो हाय चिंता क्या हो गया अब होना चाहिए था ऐसा क्यों नहीं हो गया देना चाहिए था उसको अब होगा कि नहीं दिया तो ठीक रहा हम्म, लेकिन अपनी ओर से वो मांग नहीं सकता था छोड़ नहीं सकता देने मिलने पर मना नहीं कर पाता कि मुझे नहीं लेना है हम्म, मिठाई बट रही है हाथ ऐसे नहीं किया हम्म, लेकिन उसने नहीं दिया तो कहा ठीक है कोई बात नहीं अच्छा हुआ यानी दूसरे के कारण अगर वो चीज़ चली गई तो दुख नहीं होना ये तनु का लक्षण होता है और नहीं आने पर दुख हो जाना ये अभी बलवान है वो तो ऐसे ये क्लेश होते हैं तनु करना देने क्या प्रतिपक्ष भावना से एक बार निषेध करने के बाद धीरे धीरे कई बार ऐसे निषेध करते करते क्या होते हैं क्लेश दुर्बल पड़ जाते हैं हम्म, भवंती तथा विच्छिद्य विच्छिद्य तेना तेना आत्मना पुनः समुदाचरती इति विच्छिन्ना तो एक बार कहने से छोड़ तो देता है लेकिन जब वो नहीं मिलता है तो होता है ठीक था कोई बात नहीं मिल जाता तो चल सकता था नहीं मिला कोई बात नहीं दे देता है कोई तो क्या है उसमें ले लो ना क्या है पकौड़े तो नहीं खाते वैसे हम इन कभी कभी वो भोजन के साथ मिल जाता है वो ठीक है चल जाएगा उसमें क्या करना है तो नहीं मिलता है तो अपेक्षा नहीं दिखाई दे रही ये तो है ही नहीं इसमें हम्म, ये तो होना चाहिए था पर नहीं आया इसमें फाफड़ा है क्या है वो हाँ? फिर थेपला है ढोकला है हाँ? यहाँ की चीज़ें यानी वैसे थाली में नहीं है तो याद नहीं है उसकी हम्म, पर आ जाने के बाद अब वह चलो कोई बात नहीं चल सकता है उसको वैसे ज़रूरत नहीं है मांगना नहीं है उसमें नहीं दिया तो ठीक है तो ये फिर क्या होता है यानी देखने के बाद चलो कोई दे दे तो ठीक ही है या मिल गया तो ले लेते हैं तो ऐसे कहते हैं इसको विच्छिद्य विच्छिद्य यानी कट कट करके रुक रुक करके तेना तेना आत्मना पुनः पुनः उसी स्वरूप में समुदाचरण थी फिर से वो आचरण करते हैं व्यवहार में आ जाते हैं यानी पूरे नहीं हटते हैं अपनी तरफ से तो नहीं होता है वो लेकिन फिर भी किसी अन्य कारण से यदि वो आ जाए तो फिर से लगने लगता है हाँ ये लेने योग्य है हम्म, लेकिन वो नहीं लेता है तो बाधित नहीं होता है पर अपने आप मतलब छोड़ नहीं सकता किसी से मिल जाने के बाद भी तो ऐसे कोई चीज़ मना कर दिया लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर स्मृति आ गई हम्म, घर से अब छोड़ के आ गया यहाँ एक महीना रहा एक महीने तक तो था कि किसी को नहीं याद करना है गया सारा संसार हमने तो ले लिया सन्यास हम्म। फिर एक महीना रहते रहते फिर लगा कि माता जी पता नहीं कैसी होगी हम्म। फिर वो मित्र कैसा होगा हम्म। तो एक महीने के बाद अब सूर्यात हो गई याद होना हो गया एक महीने तक कहीं कुछ लापता नहीं था फिर जैसे तैसे पढ़ के सोच कर विचार करिए तो हम तो छोड़ के आए और क्या याद करना पीछे गई चीज़ें गई फिर एक महीने तक चला फिर हो गया शुरू ये अच्छा वहाँ वर्षा नहीं हुई होगी इस समय यहाँ बारिश हो रही है वहाँ नहीं होगी वर्षा या अधिक बारिश हो गई होगी तो क्या होता होगा हाँ वो परेशान हो रहे हैं इनके घर वाले चलना चाहिए देखने तो ऐसे करके रह रहा करें रुक करके फिर याद आना फिर रुक करके याद आना छोड़ देना भुला देना याद होना भुला देना याद होना इसको कहते हैं विच्छिद्य विच्छिद्य हाँ, सम पुनः समुदाचरण हट हट करके कट कट करके उसी चीज़ को फिर से उपस्थित हो जाना तो इसका नाम है तनु <coughs> कमज़ोर है विच्छिन्न है रुक छिप छिप करके पुनः उठना विच्छिद्य विच्छिद्य छिप छिप करके पुनः उठ जाना खड़ा हो जाना इसको विच्छिन्न कहेंगे कथम कैसे होता है ये राग काले क्रोध क्रोधस्य अदर्शनाथ नहीं राग काले क्रोध समुदाचरती इति रागस्य क्वचित दृश्यमानो न विषयांतरे नास्ति हम्म। नैकस्याम स्त्रियाम चेत्रुरक्ता इति अन्यासु स्त्रीषु विरक्त इति इसमें क्या होता है ना किसी व्यक्ति का झगड़ा हो रहा होता है आपस में वो दोनों एक दूसरे के खूब वो कर रहे होते हैं इसी समय उसका बहुत अपना निकट का व्यक्ति आ गया मित्र आ गया तो अब उतनी ज़ोर से गाली नहीं देगा वो इतना नहीं बोले बोलेगा तो बहुत धीरे कर देगा उसको अब ये क्या हो गया उसमें दोष द्वेष उबल रहा था लेकिन उसके आने पर हो सकता है वो शांत हो जाएगा अभी उसकी तरफ देखेगा तब तो नहीं आएगा उसको उतना क्रोध नहीं आएगा उससे तो हंस के बोलेगा और जैसे इधर मुंह घुमाएगा फिर करेगा इसको तो ये क्या हो रहा है कि राग इधर जब देख रहा है तो मीठा बोल रहा है तो उस समय लग गया कि कहाँ ये था ये तो ठीक है बिल्कुल और ये सामने आया तो फिर हो गया ऐसे हम्म। तो अब ये राग से क्या होता है जिस समय मतलब द्वेष वो कर रहा था तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था जो भी सामने आएगा किसी को कुछ नहीं समझेगा ऐसा लग रहा था लेकिन बहुत निकटतम का आ गया था तो एकदम शांति से बोल रहा है उसको पहले लग रहा था कि हम्म, इसमें यानी द्वेष के अतिरिक्त कुछ नहीं है लेकिन जैसे ही कोई निकटतम आया तो वो समाप्त हो गया तो उसका अर्थ ये नहीं था कि इसमें राग नहीं है अभी ऐसे किसी में मतलब वो राग है उसका लगा हुआ बहुत अच्छा बोलता है मीठा बोलता है सबके साथ व्यवहार कर रहा है ठीक ठाक लेकिन पुराना शत्रु आ गया अब क्या होगा उसका काम तो ठीक ठाक करते रहेगा उधर गया देख लूँगा चल अभी तो यहाँ उसका देश जो है वो राग से दबा हुआ है तो ऐसे राग से कहीं द्वेष दब जाता है द्वेष से कहीं राग दब जाता है एक के बाद दूसरे ऐसे आपस में दबाते रहते हैं एक दूसरे को तो उदाहरण ये दे रहे हैं कि अर्थात जैसे नहीं राग राग काले क्रोध चढ़ती थी राग के समय क्रोध जो होता है वो उत्पन्न नहीं दिखाई देता है हम्म। क्रोधा समुद्रा चलती थी रागस्य क्वचित दृश्यमानो लेकिन कहीं पर राग देखा जाता हुआ न विषयांतरे नास्ति अन्य विषय में नहीं है ऐसा नहीं समझना चाहिए राग के समय में क्रोध उत्पन्न नहीं होता है इसका अर्थ ये नहीं है कि क्रोध उसमें नहीं है हम्म। ऐसे कहीं पर एक जगह में राग हम्म, दिखता हुआ ये दूसरी बात अब कह रहा है कि रागस्य क्वचित दृश्यमान न विषयांतरे नास्ती न हम्म। एक स्त्रियाम क्षेत्रो रक्त इति अन्यासु स्त्रीसु विरक्त इति यानी किसी की एक ही विषय में राग है इसका भी अर्थ नहीं लेना चाहिए कि दूसरे में नहीं है यानी किसी को मिठाई में तो राग है लेकिन उसको नमकीन नहीं खाता है इसका अर्थ ये नहीं कि नमकीन में राग नहीं है वो यानी राग यदि है तो उसको नमकीन में भी होगा यानी मिठाई में यदि राग है तो नमकीन में भी होगा और कहीं पर उसको जो नमकीन नहीं होता है और क्या हो सकता है तीखा में हाँ हम्म, तीखा में नहीं होगा जो खूब मिठाई खाता है उसको सबसे तीखी चीज़ क्या चीज़ होती है हम्म, चटनी मिर्च की चटनी हम्म। हाँ लाल मिर्च की चटनी मतलब उसमें नहीं होगा उसका राग ऐसा नहीं हो सकता एक स्त्री में जो आसक्त है उसको संसार की और किसी में नहीं होगा राग ऐसा नहीं हो सकता है नहीं कहीं पर भी अगर राग दिख गया है तो इसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए केवल वहीं होता है वो हम्म, वो दूसरे में भी होता है लेकिन दिखता नहीं है इस आलम्बन के हट जाने पर अब दूसरी फिर पीछे पड़ेगा वो हम्म, अब नहीं मिलेगी मिठाई कहीं है ही नहीं मिलती ही नहीं है तो अब वो कहे चलो नमकीन ही मिलता है उसको खाएंगे और क्या ये बंदर आदि जैसे होते हैं ये पत्ते कब खाते हैं जब देखता है कहीं अमरूद भी नहीं केला भी नहीं कहीं कुछ नहीं तो चल भाई इसी को तोड़ वही खा जाते हैं काट के तो इसका अर्थ ये नहीं कि अमरूद नहीं खाएंगे ये हम्म। एक नहीं मिल रहा है तो दूसरा करें दूसरे के साथ करेगा व्यवहार दूसरा नहीं मिल रहा है तो तीसरे के साथ होगा हम्म। एक पत्नी की जगह मर गई फिर भी वाह करता है फिर वो अब दूसरे के पास नहीं जाता है फिर मर जाती फिर कर लेता है हम्म। ऐसे तीन चार छः तक ये ले जाते हैं कितने कहाँ तक ले गया था कौन था वो तीन सौ थी ना उसकी दिल्ली वाला बादशाह कौन था ये लखनऊ का था नहीं दिल्ली का था अकबर की भी तो तीन सौ थी करीब हम्म। बारी बारी नहीं उसने तो रख के लिया था बाद में जितना आता था वो रख लेता था हाँ वो तीन सौ जमा कर लिए थे उसने जा कर के तो अब साथ तो एक के साथ ही रहता है प्रसिद्धि तो एक ही थी लेकिन उसका अर्थ ये नहीं था कि एक में ही था उसका वो मर जाती थी दूसरा कर ले आता साथ दूसरी मर दी तो तीसरी ले आता वो साथ में तो ऐसे उसने इतने इकट्ठे कर लिए तीन सौ में नहीं होगा उसका उसके तीन हजार से भी ज़्यादा हो जाएंगे हाँ तो मूल चीज़ है कि आलम्बन यहाँ गौण होता है उसका कारण यदि है तो एक में नहीं दो में सभी में है फिर वो पूरे संसार में है संसार की किसी भी एक वस्तु से एक तिनके से यदि है प्रकृति से तो समझ लो सारे संसार से है उसका क्योंकि राग यदि है मूल चीज़ तो यही है ना आँख यदि है तो कुछ भी तो दिखेगा ना दिखने वाली चीज़ एक ही चीज़ थोड़ी दिखेगी तो आँख खोल रखी है तो एक ही आदमी को देखना चाहिए ऐसा तो नहीं होगा वो दूसरा तो दिखेगा ही दिखेगा तो ऐसे ही अंदर चित्त जैसा भी है तो ठीक है एक आलम्बन एक बार में तो दिखेगा वो लेकिन उसके हटने के बाद दूसरा भी वैसे ही लगेगा तो ऐसे ही राग यदि है तो एक में नहीं सभी वस्तुओं में समझना चाहिए हाँ नहीं था ऐसा नहीं कह सकते यही तो था बता रहा है ये एक में यदि है तो दूसरे में नहीं होगा ऐसा नहीं होगा तो बाकी में उस समय कष्ट होगा होगा यानी उन्होंने एक तरह से नियम बना लिया था दूसरा नहीं करना है ये इस चीज़ को रोक के रखना है मुझे उन्होंने नियम बांध करने के कारण ऐसा हुआ था लेकिन मूलतः अब वो अगले जन्म में गए होंगे तो क्या हुआ होगा नहीं वो चित्त थोड़े एक जन्म का चलता है वो तो बुरे में जाएगा अब अब वो देखने का हो गया चलो एक में उनको दिख रहा है ऐसा लेकिन वो अब ये होता ना मरी नहीं थी ना वो है कृष्ण जी की तो थी अधिक चलो उनकी तो क्या थी दो थी एक तो क्या नाम था है तीन का आता है नहीं दो के नाम तो प्रसिद्ध है ना क्या नाम था अभिमनु किसका नहीं क्या नाम था एक का नाम सत्यभामा था और दूसरी का नाम था रुक्मिणी दो थी दो के नाम आते हैं कहीं तीन के आते हैं हैं हाँ तीन के आते हैं फिर तीन सौ के आते हैं वो तो उसमें चला गया पर तीन के नाम अधिकतम आते हैं दो के तो प्रसिद्ध है दो में भी हो गया वेद विरुद्ध लेकिन वही है ठीक रामचंद्र जी ने मतलब ये क्या है ना इससे ये नहीं हुआ कि राग नहीं है ठीक उन्होंने बांध लिया है इसको हाँ आगे इधर उधर नहीं होने देना है ये विशेषता है उनकी लेकिन वो नहीं होगा दूसरे में बन जाता ही नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता है तो जाएगा जाएगा जान से आदमी कर ले संयम वो ठीक है होता है वो हाँ व्यवहार में नहीं आएगा वो होने नहीं देगा वो जैसे दिन में है ना वो नहीं करते हैं स्वप्न में तो कर लेते हैं वहाँ नियंत्रण नहीं रहता है ऐसे ही खाने में है एक चीज़ मतलब प्राय अधिक चीज़ों की खाने की नहीं होती प्रवृत्ति विशेष किसी की होती है दूसरी में नहीं होती मि, मिठाई में है तो तीखे की अधिकतम नहीं होती प्राय लेकिन जब मीठा बिल्कुल बंद हो जाएगा संभावना नहीं है तो उसमें फिर हो जाएगी हम्म, ऐसे एक जगह है रहने की अब जननी जन्मभूमि से आता है उसमें हम्म, स्वर्गादपि गरीब नहीं अयोध्या में उनकी थी लेकिन जंगल में भी तो घूमते ही रहे हो वहाँ भी तो आनंद से ही रहे लेकिन कहने में तो कहा कि हमारी अयोध्या नगरी स्वर्ग है तो ऐसी दूसरे में भी हो जाएगा दूसरी यहाँ प्रतिबंध है एक के बाद दूसरा नहीं करना चाहिए नहीं लेना चाहिए तो इसीलिए वो मर्यादा कहे जाते हैं मर्यादा का उन्होंने पूरी तरह से पालन किया हम्म। तो व्यवहार तक ही है वो मन से नहीं कह सकते ऐसा मन में नहीं हुआ और उसमें भी कारण की दूसरी संभावना उन्होंने मिटा रखी है अभी है नहीं है ऐसा नहीं हो सकता उसी को नियम ये बना रहा है ऐसा यदि होता है देखने में लगेगा ये एकस्यां स्त्रियां चैत्रो रक्त इति अन्यासु स्त्रीसु विरक्त इति न ऐसा नहीं होता है रागस्य क्वचि दृश्यमान नौ विषयांतरे न अस्ति इति न ये न कितने आ गया तीन बार आ गया रागस्य क्वचि दृश्यमान हाँ, कहीं एक विषय में दिखा दिखता हुआ राग हम्म। न विषयांतरे न अस्ति दूसरे विषयों में नहीं नहीं है दूसरे विषयों में नहीं है ऐसा नहीं है हाँ ये तो- हाँ तो ये दो हो गया अब इसका उदाहरण दे रहे हैं फिर ये कि ना एकस्याम स्त्रियाम चैत्रो रक्ता इति अन्यासु स्त्रीसु विरक्त इति एक स्त्री में आसक्त होता हुआ चैत्र अन्य स्त्री में आसक्त नहीं है विरक्त है ऐसा नहीं है किंतु तत्र राघो फिर ऐसा क्यों होता है हेतु तो बता रहे हैं तत्र रागो लब्ध वृत्ति वहाँ जो राग है अपनी प्राप्त वृत्ति वाला है अन्यत्र भविष्य वृत्ति थी दूसरी जगह में वृत्ति होने वाली स्थिति है भविष्य वृत्ति वाली परोक्ष वृत्ति वाली है वो स ही तदा प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो भवती वही एक जगह जो वर्तमान है सत्ता रखता है वही फिर प्रसुप्त तनु और विच्छिन्न हो जाता है यानी वो उदार जो अवस्था में है राग जहाँ अपने आलम्बन को प्राप्त हो गया वो उदार हो गया वही कहीं पर विच्छिन्न हो जाता है वही तनु हो जाता है वही प्रसुप्त हो जाता है हम्म। विष अब उसका वो लक्षण कर देते हैं कि विषय यो लब्ध वृत्ति स्व उदारा हम्म। जो अपने विषय अं, के संबंध से वृत्ति उत्पन्न कर रहा है वो उदार कहलाता है हम्म। सर्व एते क्लेश तो विषय उदारा विषय में यानी लड्डू जो सीधे खा ही रहा है तो खाते समय अब जो लग रहा है पहले कहा था कि मैं लड्डू नहीं खाता हूँ ऐसे सोच लिया संकल्प कर लिया अब कई दिन हो गए तो अब उसको क्या हो रहा है कि कोई ध्यान नहीं आता है आ भी गया कभी नहीं भी आया ऐसा कुछ हो गया तो अब नहीं होती उसकी इच्छा या जैसे आप मान ले किसी ने मांस खाता था पहले खाया था अब उसने छोड़ दिया है हाँ तो छोड़ देने के बाद ही आपने ही कुछ खाते पीते होंगे पहले बचपन में हम्म। तो अब कुछ ऐसे पीसे होंगे उसकी याद ही नहीं आ रही होगी खाया था कि नहीं खाया था कभी प्रवृत्ति दोबारा खाने की भी नहीं होती है हम्म। मांस पहले खा लेते थे अब हुआ कि बिल्कुल नहीं होती है हम्म। तो इसका नाम हो गया प्रसुप्त फिर दूसरा हुआ किसी ने प्रेरित किया हम्म। और कुछ खाने का आपका उदाहरण नहीं है याद रोटी खिचड़ी खिचड़ी के साथ आप दूध खाते थे क्या मिला के दूध मिला करके खिचड़ी में अभी भी खाते हैं नहीं वही घर में खाते होंगे ना यहीं खाए नमक मिलेगी खिचड़ी में घर में जो बनती है वो तो नमक में नहीं बनती है ना अच्छा चावल वो वाले खाए हैं फिर अभी वो जो बासी चावल होता है पानी मिला के पानी बत्ता रात का रख देते हैं चावल और सुबह पानी मिला के खाते हैं उसको नमक डाल करके तो उसको खाने की इच्छा होती है अभी याद आती है नहीं वैसे वैसे कभी इच्छा होती खाएं इसको नहीं होती ना तो अब ये एक तरह से क्या हो गया प्रसुप्त स्थिति हो गई कभी याद नहीं आती कि ऐसा बनना चाहिए ऐसा खाना चाहिए कोई योजना नहीं उसकी तो उसकी ये प्रसुप्त स्थिति हो गई अब किसी को खाते देख लिया वो खा रहा है झोपड़ी वाला खाता है जो भी होता है वो दिख गया खाता हुआ तो अब क्या होगा कि हाँ ठीक है नहीं अभी कहा ठीक है हम्म, बढ़िया है ये यानी ऐसी स्थिति नहीं रही कि कुछ नहीं उसके बारे में वृत्ति नहीं उठी कुछ बोल दिया हाँ ठीक है बढ़िया हम भी खाया करते थे पहले हम्म। तो अब ये क्या हो गया जो प्रसुप्त था उग गया ये ये उसमें आ गया अब अभी उठा फिर कहा क्या है छोड़ो ना ऐसे होता है तो अच्छी चीज़ नहीं है ये रात की चीज़ कौन खाएगा इसको ऐसी बासी चीज़ें नहीं खाना चाहिए मना मनु ने मना किया है सारे तमोगुणी होते हैं इससे अच्छा नहीं रहता है शरीर बुद्धि वो होती है तो खाने की चीज़ नहीं ऐसे उसको हटा दिया फिर दूसरे दिन देख लिया उसी को खाते हुए फिर कहा नहीं ठीक तो बड़े वैसे स्वाद तो आता है इसमें खाया जा सकता है इसको और ज़्यादा सड़ाना नहीं चाहिए एक दो दिन का हो तो ठीक नहीं है पहली रात का है तो क्या है तो चल सकता है ये तो ऐसे ये अब जो आ गया ये ये तनु में आ गया पहले हेतु से उसको बासी है ये है तमोगुणी है हेतु करके हटा दिया था अब फिर दूसरा उठा लिया कि लेकिन स्वाद तो लगता ही है खाया जा सकता है इसमें क्या है तो अब ये दूसरे में आ गया प्रसुप्त तनु काटने के बाद फिर जो आ जाना है इसका नाम है तनु हाँ अब इसके बाद फिर विच्छिन्न होगा वहाँ से उठ करके चले गए फिर भूल गए पूरा फिर याद आ गई कि एक आध बार देखा जा सकता है हम्म, हम भी कर सकते हैं तो और रात को बच जाता है सारा फेंकें कैसे इतना फेंकना ठीक नहीं है बहुत महंगा होता है चावल बासमती चावल है ऐसे नहीं फेंकना चाहिए चलो काम आ जाएगा सुबह कर लेंगे हम्म, अब ये क्या हो गया फिर हम्म, हाँ तनु से बाद विच्छिन्न हो गया अब इसमें कुछ प्रवृत्ति होगी फिर वह छोड़ो क्या करना है फिर वह नहीं चला लेते तो ऐसे पुनः पुनः छोड़ देना फिर उठा लेना फिर छोड़ देना फिर उठा लेना इसका नाम है बिछिन और फिर चलो खा ही लेते हैं इसको देखा जाएगा अब ये जो खाने लग गए इसको कहते हैं लब्ध वृत्ति इसका नाम है उदार नहीं किसी भी विषय को भोगने लग जाना हाँ जिस विषय का जो भी है इंद्रिय के साथ सनिकस करके सुख लेने लग जाना ये उसका नाम है उदार उसी को कहते हैं विषय लब्ध वृत्ति हाँ नहीं नहीं वो उसमें जाएगा ना कि ये सब अविद्या चुकी है तो अविद्या होने से सभी चीज़ें हैं काम है क्रोध है सब कुछ है बस इतना है कि वो विषय के साथ आलम्बन के साथ व्यवहार करेगा कि नहीं करेगा इतने में देश काल की रहेगी भिन्नता कालांतर में परिस्थिति यानी लंबी हो गई ना तो हो जाएगा वैसे वो नहीं हम्म। वही हुआ ना कि एक आदमी जैसे श्री कृष्ण का आता है ना कि उन्होंने कहा कि एक गाली दिया ठीक है कोई बात नहीं फिर उन्होंने कहा सौ के बाद नहीं छोड़ूंगा हाँ हम्म, एक गाली सहन कर लिया दो सहन हुआ कब तक सहन करेंगे बंद ये सौ के बाद नहीं छोड़ना बस वो सहन से बाहर हो गया फिर नहीं जाने दिया उसको हम्म। तो चीज़ तो वही गाली आवृत्ति तो कर रहा है और क्या कर रहा है वो पहले जैसे सहन कर लिया दूसरे भी कर लेता है लेकिन वो अंदर बढ़ रहा होगा ना बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते लगा इससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता इसको हम्म। तो ऐसी मतलब कहीं ना कहीं सीमा आ जाएगी यानी वही परिस्थिति धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अंत में ला देगी तद्रूप कर देगी क्लेशों का यही है हम्म। तो हाँ वो पीछे आ गया ना हाँ यानी कि राग उसमें है तो द्वेष नहीं होगा ये भी ऐसा नहीं हो सकता है कहीं पर राग है तो अभी द्वेष उसका दबा हुआ है वो कहीं और उभरेगा जा कर के कम अधिक मात्रा हो सकती है ऐसा होता है हम्म, कम अधिक होता है ये एक चीज मैंने एक जीवन में ऐसा हम्म, हो जरूरी नहीं होता है हम्म, कोई व्यक्ति रहता ही है सारा सहन करता है चुपचाप नहीं आता है क्रोध लेकिन नहीं होगा क्रोध ऐसा नहीं होगा कहीं कहीं आएगा छोटे मोटे में आएगा मनुष्य पर नहीं आएगा वो खिड़की में आ जाएगा उसको ही जोर से मार देगा और क्या कहीं कहीं तो निकालेगा वो हाँ कहीं कहीं निकालेगा पत्थर फेंक के सर्व एते क्लेश विषयत्व नातिक्रमणती ये सारे के सारे के होते हैं क्लेश के विषयत्व का अतिक्रमण नहीं कर पाते यानी क्लेश रहते ही तो कस्तर ही विच्छिन्ना प्रसुप्त तनु उदारो व क्लेशाई थी तो क्या सारे के सारे अधिक हो जाएगा ना समय ज़्यादा हो जाएगा रहने देते हैं ओ